और इनके लिए एक और निशानी रात है हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाती हैं